उसके सर्वरक्षक अर्थ की भावना मन में रखते हुए तीन बार ओम का उच्चारण ओ प्रेमी सज्जनों आर्यभिविनय के प्रथम प्रकाश का इकतालीसवां मंत्र परमात्मा से प्रार्थना की गई है वह परमात्मा हमारा रक्षक हो वो परमात्मा कैसा है और किस प्रकार से रक्षा करता है वो इस मंत्र के अंदर बताया गया है हमारी जो प्रार्थना है वह दूसरे मंत्र में दूसरी पंक्ति में अंत में कही गई है इंद्र मरुत्वान इंद्र न ऊती भवतु वह मरुत्वान इंद्र हमारा हमारे लिए हमारी रक्षा के लिए हो गई इंद्र ऐश्वर्यवान वह परमात्मा और मरुत्वान मरुत शब्द वैश्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है चार वर्णों में जो वैश्य होता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वैश्य के लिए बहुत प्रयोग किया जाता है और इस मरुत शब्द के मरुत्वान यानी जो मरुत वाला है जो मरुत वाला है उसे मरुत्वान कहेंगे मरुत शब्द का अर्थ निरुक्त में तीन ढंग से किया गया मरुत यानी वैश्य एक तो कहा मित राविणो हुआ जो कम बोलता है उसे मरुत कहते हैं मरुत कम बोलने वाला मित बोलने वाला मितभाषी जो वैदिक व्यवस्था से व्यापार करता है वो कम बोलता है ये वस्तु ऐसी ऐसी है और ये उसका भाव है कौन सा व्यापारी ज्यादा बोलता है जो पहले भाव बढ़ाता है फिर वो दूसरा कम करता है वो कुछ और कम करता है भाव तोल करता है बार बार बार बार नहीं ले जाओ फिर नीचे आता है बहुत बात करता है वो वैदिक वैश्य नहीं है वो मरुत नहीं है तो मरुत वो होता है जो कम बोलता है मितभाषिणो हुआ दूसरा कहा मित्रोचिनो जो माप में रुचि रखता है मरुत मापने में जो रुचि रखता है जितना उचित है उतना मापता है ठीक ठीक माप के देता है वो ध्यान रखता है इतना ही दिया जाना है कम नहीं वो वैश्य है मरुत है और एक अर्थ किया मित द्राविणों व महत द्राविणों व लेकिन गति बहुत करता है वो इधर से उधर व्यापार के लिए आता जाता है वस्तुएं लाता है यहां महर्षि ने जो अर्थ किया है वो मरुत का प्राण वायु बल सेना युक्त जो है वो इंद्र वो परमात्मा अत्यंत गतिशील प्राण भी वायु बल भी गति का प्रतीक है थोड़ा कम और सेना भी सेना को भी मरुत शब्द से कहा गया सेना में भी ये तीन गुण रहेंगे वो कम बोलना होता है उनको मापन में रुचि होनी चाहिए कहां कितने लोग हैं कैसे हैं कितनी दूरी पे छोड़ना है गोली इत्यादि बहुत मापन से युक्ति युक्त ढंग से चलता है चलना चाहिए लेकिन महतरावीणों वाले लेकिन गति उनकी बहुत होती है इधर से उधर आना जाना जो भी करना है कहीं भी पहुंचना तेजी से पहुंचना इन गुणों से युक्त जो इंद्र है मरुत है परमात्मा भी अधिक नहीं बोलता हमारे लिए अंदर संकेत करता है संकेत मात्र करता है तो ऐसा मरुत्वान इंद्र न हमारे लिए ऊती ऊतये ऊती के लिए भवतु हो गए वो कैसा है और स विश्वस्य करुणस्य ईशे एक स एक वो अकेला ही एकमात्र प्रमुखता से इस विश्व का जो कि करुणा के योग्य है उसका उस पर करुणा करने वाला है और ईशे ईष्टे वो समर्थ है यहां जो पदार्थ लिखा गया इसमें ईशा शब्द लिखा है ये वस्तुतः ईशे शब्द है और ईशा को यहां पर परमात्मा इस अर्थ में खोल दिया है यद्यपि ईश परमात्मा होता है लेकिन यह ईश शब्द ही नहीं है यहां तो ईशे शब्द है और इसके ऊपर चौथी पंक्ति में ऊपर से क्षितय लिखा हुआ है वो क्षितय है संस्कृत में जो मूल मंत्र में क्षितय तो भूल से यहां ईशे का जो ए लगना था वो क्षितय पर ए लग, लग गया है क्षितय ऐसा वो परमात्मा जो इस सारे संसार को अकेला ही करुणा करता है करुणा प्रदान करता है रक्षा करता है मुख्य रक्षक वही एक है ऐसा वो परमात्मा हमारी रक्षा के लिए होवे वो हमारी रक्षा के लिए होवे ये हम प्रार्थना कर रहे हैं वो रक्षा के लिए होता है वो रक्षा के लिए है ही पर हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमारे लिए इस प्रकार का रक्षक गए वो परमात्मा और कैसा है तम ऊतयो रणयन शूर सात तम उसको तस्य अर्थ किया महर्षि ने उसका या उसकी उस परमात्मा की ऊतय ऊती कहते हैं रक्षा को अवधातु से जो कि परमात्मा का मुख्य अर्थ है रक्षक उतया बहुत सारी रक्षाएं अनंत रक्षण महर्षि ने लिखा है अनंत रक्षण तथा बलादि गुण प्राप्त होंगे और वो कैसा है शूर सातौ रणयन शूर सातौ युद्धे युद्ध में शूर मतलब तो शूरवीर योद्धा युद्ध करने वाला और साथ में है साथी शूराणाम साती संभजनम यस्मिन तस्मिन संग्रामे सूरों का साथी संभजन क्षण संभक्त धातु से ये बनाया उनका संभजन सेवन जहां पर होता है उनकी सेवा जहां पर होती है शूरवीरों की सेवा जहां पर होती है उसे संग्राम कहते हैं शूरवीरों की सबसे अधिक सेवा कहां होती है किस काल में होती है युद्ध के काल नागरिक भी जब सैनिक युद्ध करने जाते हैं युद्ध के आसपास के जो परिवार होते हैं घर वाले होते हैं माताएं बहनें पुरुष उनके लिए सब भोजन उपलब्ध कराते हैं खूब दूध खूब मिठाई खूब फल खूब सूखे मेवे अधिक से अधिक उनको उपलब्ध कराते हैं सैनिकों की सबसे अधिक सेवा युद्ध के काल में होती है अन्य समय भी होती है लेकिन उस समय तो बहुत ज्यादा होती है आगे से आगे आगे से आगे उनके लिए जहां उपलब्ध है वहां करवाया जाता है अकेले पड़ जाए तो कोई सेवा नहीं होती वो एक अलग बात है तो जिसमें सैनिकों की सबसे अधिक सेवा होती है वो संग्राम होता है उस संग्राम में रणयन महर्षि ने इसका अर्थ किया रमण और रणभूमि में शूरवीरों के गुण परस्पर इत्यादि प्राप्त कराएगा रण धातु जो है वो शब्दार्थक भी है और गत्यर्थक भी है परमात्मा युद्ध में प्रेरित करता है गति देता है प्रेरित करवाता है हमें परमात्मा चाहता है कि हम युद्ध करें परमात्मा अन्याय के प्रति युद्ध करने को प्रेरित करता है युद्ध मात्र प्रत्येक युद्ध गलत नहीं होता युद्ध किस उद्देश्य से किया जा रहा है उसके आधार पर युद्ध का उचित और अनुचित होना निर्णित होता है सामान्यतः हम ऐसा कह देते हैं युद्ध नहीं करना चाहिए शांति होनी चाहिए वेद में तो युद्ध आदि की बहुत बातें हैं बहुत प्रेरणाएं हैं परमात्मा योद्धाओं को युद्ध में जाने के लिए प्रेरित करता है युद्ध में जाओ लेकिन वो कौन सा युद्ध होता है धर्म युद्ध धर्म के लिए जाना है और धर्म में के युद्ध में जो नहीं जाता है जो जाति नहीं जाती है वो हानि को प्राप्त करती है वो दोष है ईश्वर की दृष्टि से भी तो परमात्मा उधर प्रेरित करने वाला है युद्ध में और युद्ध में प्रेरित करता है और वहां वो रक्षक भी है उस परमात्मा से हम रक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं जो हमें युद्ध में प्रेरित भी कर रहा है उसने आदेश दिया है कि युद्ध में जाओ तो उसका दायित्व भी बनता है कि वो हमारी रक्षा करे जो धर्म के लिए युद्ध कर रहा है उसकी रक्षा करें प्रथम पंक्ति के आगे लिखा तम क्षेम से क्षितया गृणवता त्राम क्षितया क्षितया ये शब्द मनुष्य नाम में पढ़ा गया है निघंटू में मनुष्यों को संबोधित कर रहे हैं हे मनुष्यों और चूंकि प्रसंग युद्ध का है शूरवीरों का है इसलिए महर्षि ने लिखा है शूरवीर पुरुषों मनुष्यों तम उसी को क्षेम से कुशलता का त्राम कृणवत रक्षक करो ये हमारे लिए आदेश है उस परमात्मा को हे मनुष्यों उस परमात्मा को कुशलता का रक्षक करो वो तो है ही रक्षक हमें उसको कुशलता का रक्षक करना है हमें उसे कुशलता का रक्षक मानना है स्वीकार करना है जब हम परमात्मा को कुशलता का रक्षक मानेंगे तो हम उसकी आज्ञा के अनुसार युद्ध में प्रेरित होंगे प्रवृत्त होंगे यदि व्यक्ति ईश्वर को रक्षक नहीं मानता कुशलता का रक्षक नहीं मानता तो अब युद्ध में धर्म मात्र के कारण से वो प्रवृत्त नहीं होगा ईश्वर की प्रेरणा से धर्म मात्र में के लिए युद्ध करने को प्रवृत्त नहीं होगा क्योंकि वहां वो ये देखेगा इस युद्ध से मेरा लाभ है या नहीं है मेरे को गोली लग सकती है तलवार लग सकती है हानि हो सकती है इससे लाभ होगा नहीं होगा नौकरी बनी रहेगी नहीं बनी रहेगी इत्यादि लाभों को लौकिक लाभों को स्थूल लाभों को हानियों को देख करके वो प्रवृत्त होगा या निवृत्त होगा उससे परमात्मा जब हमें धर्म के लिए प्रवृत्त कर रहा है धर्म युद्ध के लिए प्रवृत्त कर रहा है प्रेरणा दे रहा है तो वो तो रक्षा करेगा ही और हम भी युद्ध में इसलिए प्रवृत्त हो रहे हैं क्योंकि ईश्वर ने आदेश दिया है और वो रक्षक बना हुआ है हमारा उसकी आज्ञा के अनुरूप जो युद्ध किया जाएगा उसमें स्थूल रूप से भौतिक रूप से कुछ भी हानि होती हुई दिखे लेकिन हमारी हानि कभी नहीं होगी क्योंकि वो अकेला सबका रक्षक है सदा रक्षक है यतो धर्मस ततो जय जहां धर्म होता है वहां जीत तो होती है विजय होती है ईश्वर हमारे युद्ध में रक्षा करे यहां भी महर्षि ने लिखा अंत में जिसकी रक्षा से हम लोग कभी पराजय को न प्राप्त होवें तो जो धर्म के लिए युद्ध करता है वो कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता ये जब हम इससे अर्थ लेते हैं और उसको स्थूल रूप से लागू करते हैं तो फिर प्रश्न खड़े होंगे क्या संसार में जब भी युद्ध हुआ या होता है वहां पर धर्म वाले पक्ष की ही विजय होती है अधर्म की भी होती है कौन शक्तिशाली है किसने कूटनीति का प्रयोग किया किसने समय पर आक्रमण किया किसने समय पर रक्षा की कौन समय पर जागरूक रहा किसकी सेना और अस्त्र शस्त्र अच्छे हैं तीव्र हैं तीक्ष्ण हैं इत्यादि बहुत सारी बातों पर युद्ध का जय और पराजय निर्भर करता है ये प्रत्यक्ष है लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जो धर्म के रास्ते पे है उसका विजय होता है परमात्मा उसकी रक्षा करता है उसकी विजय कराता है लेकिन जो दिखाई देता है वो भिन्न है तो ऐसे में परमात्मा की जो रक्षा है उसे हमें कुछ व्यापक रूप से देखना होगा ये जो भौतिक जय पराजय है ये तो बहुत स्थूल है लेकिन जो धर्म के लिए लड़ा धर्म के लिए जिसने बलिदान किया अंग भंग हो गया जिसका उसकी पूर्ति उसको पुण्य उसके पुण्य का लाभ वो परमात्मा अवश्य देगा यदि ये भाव मन में नहीं है तो व्यक्ति उस जगह युद्ध के लिए नहीं जाएगा जहां दूसरे बहुत बलवान हो युद्ध करना आवश्यक भी लगता हो लेकिन वो हट जाएगा पीछे क्योंकि उसे हानि दिखाई दे रही है वहां ईश्वर विश्वासी कभी युद्ध करना पड़ा और करना ही है भले ही बलवान है पता है कि मेरा नाश होगा लेकिन अन्याय का विरोध वो अवश्य करेगा मनुष्य की परिभाषा लक्षण में महर्षि उसी ढंग से लिखते हैं मनुष्य कहते ही उसको है आर्य कहते ही उसको है ईश्वर भक्त कहते ही उसको है अन्यायी अत्याचारी का वो विरोध करता है भले ही स्वयं कितना भी दुर्बल हो क्योंकि उसे पता है ईश्वर रक्षक है मैं दुर्बल हूं तो क्या हुआ सर्वरक्षक ईश्वर मेरे साथ में है वो रक्षा करेगा और वो कौन सी रक्षा करेगा यहां युद्ध वाली रक्षा साक्षात नहीं करेगा युद्ध वाली साक्षात रक्षा भी एक पक्ष में करता है एक अंश में करता है उस पर भी विचार करेंगे लेकिन उसकी वास्तविक रक्षा तो वो है जो यहां मर भी गए तो भी जो हमारा साथ देगा और हमारे को उत्तम जन्म देगा हमारी प्रगति कराएगा वो उसकी वास्तविक रक्षा है ऐसा ईश्वर विश्वासी धर्म के युद्ध से कभी पीछे नहीं जाएगा क्योंकि उसे हानि नहीं दिखती है उसे उसमें लाभ दिखाई देते महर्षि ने यहां पर जो बात लिखी शूर सातो रणयन युद्ध में अपने को यथावत रणयन रमण और रणभूमि में शूरवीरों के गुण परस्पर प्रीत्यादि प्राप्त कराएगा वो उधर प्रेरित करेगा रमण कराएगा परमात्मा को मानने पर परमात्मा की आज्ञा को मानने पर वो योद्धा युद्ध में रमण करेगा क्रीड़ा की तरह जाएगा वो उसे ऐसा लगेगा जैसे कोई व्यापारी व्यापार में रमण करता है कितना ही कष्ट हो व्यापार में वो उसमें लगा रहता है क्योंकि उसे लाभ दिखाई दे रहा है ऐसे ये योद्धा भी रमण करेगा युद्ध में प्रसन्नता से जाएगा उसे अवसर मिला है बहुत पुण्य कमाने का बहुत बड़ा पुण्य कमाने का अवसर मिला है वो रमण करेगा रुचि से जाएगा खूब वेग से जाएगा उत्साह से जाएगा भयभीत नहीं होगा और रणभूमि में शूरवीरों के गुण शूरवीरों का एक गुण जो परस्पर होना चाहिए परस्पर प्रीति आदि युद्ध परस्पर प्रीति से चलता है और सैनिकों में परस्पर प्रीति भी युद्ध के समय सर्वाधिक होती है सामान्य अवस्था में हम भले ही आसपास में रह रहे हैं ज्यादा बोल नहीं रहे एक दूसरे के हित का चिंतन नहीं कर रहे हैं लेकिन जब युद्ध में जाते हैं जब मृत्यु और हार और जीत जीना मरना सब साथ जुड़ जाता है एक के जीने पे मेरा जीना है एक के मरने पे मेरा मरना है दूसरे का मरना है संगठित रहना बहुत आवश्यक है योजनाबद्ध चलना बहुत आवश्यक है वहां परस्पर प्रीति एकदम से बढ़ जाती है जैसे भारत देश के लिए भी कहते हैं वैसे झगड़ते रहते हैं लेकिन युद्ध के समय सब एक हो जाते हैं आपत्ति आती है तो एक होना ही पड़ता है होते ही हैं ऐसी आपत्ति स्थिति में जब मृत्यु सामने हो वहां एक होते हैं तो युद्ध में सैनिकों का जो गुण है परस्पर बहुत सारे गुण हो सकते हैं उसमें प्रीति ये एक विशेष गुण महर्षि ने लिखा प्रीति आदि बहुत सारे गुण उनको वो देने वाला होता है जब हमें दिखाई देता है कि हमारा साथी सत्य के लिए लड़ रहा है तो जुड़ेंगे उसके साथ और यदि साथ साथ युद्ध करने जा रहे हैं और एक सैनिक अपने स्वार्थ के लिए कुछ वहां करने लग जाए अधर्म के लिए करने लग जाए दूसरे सहयोग नहीं करेंगे सामान्य स्थिति में भी युद्ध में जहां संघर्ष होगा वहां सहयोग किसको अधिक मिलेगा उसको मिलेगा जो सत्य पे है जो ठीक स्थान पे है धर्म पे है सड़क में यदि दो में झगड़ा हो जाए और अजनबी व्यक्ति वहां पर आ जाए भीड़ इकट्ठी होगी किसका समर्थन करेंगे उन्हें पता लग जाए ये ठीक है ये गलत है अजनबी व्यक्ति किसका सहयोग करेगा सही का ही सहयोग करेगा ये परमात्मा ने व्यवस्था की है सत्य श्रद्धाम अदधात और असत्य अश्रद्धाम प्रजापति दृष्टवा रूपे व्याकरोत सत्यानृते प्रजापति उस प्रजापति ने सत्य में श्रद्धा पैदा की है सबको ऐसा ही बनाया है हाँ यदि अपना स्वार्थ है हट है दुराग्रह है तो जो अपना व्यक्ति है वो गलत होगा तो भी उसका समर्थन करते हुए व्यक्ति दिखेगा वो उसकी अपनी अज्ञानता से स्वार्थ के कारण से समर्थन कर रहा है लेकिन ये स्वार्थ हटा दिए जाएं जो मैं कह रहा था अजनबी व्यक्ति बिना पहचाना हुआ व्यक्ति जब सामने आ जाए हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है हमने कभी उससे को देखा नहीं है ऐसे व्यक्ति आएंगे तो वो किसका पक्ष लेंगे सदैव सही का ही पक्ष लेंगे दूसरे से डर रहे हैं तो फिर इधर उधर जा सकते हैं लेकिन ना कोई डर हो और कोई कारण नहीं हो तो मनुष्य आत्मा सत्य का ही पक्ष लेगा ये व्यवस्था कर रखी है बहुत बड़ी जब भी हम अन्याय का विरोध करेंगे आगे बढ़ेंगे तो लोग भी तो देखते हैं लोग उसका समर्थन करेंगे अपने आप लोग उसके साथ में जुड़ेंगे ये व्यवस्था किसने कर रखी है ये परमात्मा रक्षा करता है परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है बड़े आंदोलन होते हैं भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए यदि हुआ लोगों को लगे नहीं ये व्यक्ति ठीक है लाखों करोड़ों लोग अपने आप जुड़ जाएंगे उसके साथ में दिखना चाहिए कि ठीक है भले कोई लेना देना नहीं है उससे अजनबी स्थानों में भी यहां तो भारत का हित इत्यादि भी जुड़ा हुआ है लेकिन अजनबी स्थानों पर भी सत्य के प्रति ही झुकाव जाएगा परमात्मा रक्षा करेगा परमात्मा की आज्ञा के अनुसार जब हम युद्ध करते हैं तो अच्छे लोग जुड़ ही जाएंगे उसके साथ बिना प्रयोजन के बिना स्वार्थ के दुष्ट लोग जो जुड़ते हैं वो तो स्वार्थ से जुड़ते हैं उनका हित समान होता है इसलिए वो इकट्ठे दिखाई देते हैं लेकिन बिना अपना स्वार्थ हुए भी यदि कोई व्यक्ति जुड़ रहा है तो वो सत्य से जुड़ेगा सत्य के कारण से जुड़ेगा और ये व्यवस्था ईश्वर ने की है तो युद्ध में जो युद्ध कर रहे हैं धर्म के लिए उनको प्रेरित करता है और वहां उनके लिए परस्पर प्रीति आदि गुणों की व्यवस्था करता है उसने कर रखी है व्यवस्था तो परमात्मा स्थूल रूप से भी युद्ध में हमें सहायता करता है ये परोक्ष रूप से अन्यों की सहायता हमें प्राप्त होगी जुड़ जाएंगे लोग हमारे साथ में और यदि किसी कारण से वो नहीं भी हुआ तो भी मृत्यु के बाद जो हमारा कर्माशय बना है उसका जो उचित फल आना है वो परमात्मा की रक्षा सदैव विद्यमान है तो ऐसे उस परमात्मा से हमने प्रार्थना की है कि वो इंद्र मरुत्वान इंद्र न उतये भवतु हमारी उति के लिए हो लेकिन उति उसकी कब होगी जब हम मनुष्यों को जो कहा क्षितया तम क्षेम से त्राम कृण कृणवता कृणवंतु कुशलता का रक्षक उसको करो तुम उसको स्वीकार करो तब उसकी ये रक्षाएं प्राप्त अपने आप होने लगेंगी जब हम ही उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो हम धर्म युद्ध के लिए जाएंगे ही नहीं हम नहीं जाएंगे तो हमारी रक्षा भी नहीं होगी हम अधर्म का सहायता अधर्म का सहयोग कर देंगे हमारी रक्षा ईश्वर के द्वारा नहीं होगी ईश्वर तो धर्म का सत्य का ही रक्षक होता है तो ऐसी प्रार्थना ईश्वर से की गई है परमात्मा तो सदैव हमारा रक्षक है हमें परमात्मा को उस दृष्टि से देखना है जिस दिन हम उस दृष्टि से देखने लगेंगे उस दिन परमात्मा की रक्षाएं भी हमें प्राप्त होने लगेंगी क्योंकि हम उन स्थितियों में जाएंगे जहां रक्षा की आवश्यकता है और परमात्मा हमें प्रदान करेगा आज के मंत्र के बारे में किन्हीं को कुछ पूछना है बोलिए ऐसे में वेद का आदेश क्या हुआ कि जैसे एक राष्ट्र अन्यायपूर्वक दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करता है तो उस राष्ट्र के सैनिकों का क्या कर्तव्य मतलब वो प्रधान युद्ध के लिए अपने सैनिकों को बाधित करता है दूसरे से वो आक्रमण करके उसे पराजित कर जैसे अंग्रेजों ने पराजित किया है तो उनके देश के जो सैनिक थे या हमारे देश के सैनिक दूसरे देश को पराजित करने के लिए सरकार बाधित करती है तो उनका वेद के आदेश के साथ क्या वेद के आदेश के अनुसार उन सैनिकों को उस राजा का सहयोग नहीं करना चाहिए जो अन्याय के लिए लड़ रहा है जो अधर्म को स्थापित कर रहा है उसके साथ नहीं लड़ना चाहिए ये वेद का आदेश है और ऐसे सैनिक लड़ते भी हैं तो अंदर से प्रसन्न नहीं होते हैं वो केवल वेतन के लिए और इसके लिए लड़ते हैं अंदर पता रहता है उनको अपने आप में भी गिलानी रहेगी इति, इतिहास एक अलग बात है इतिहास पे ही तो आपने प्रश्न किया था कि ऐसा ऐसा होता है होता है लेकिन प्रश्न आप कहते कि वेद का क्या आदेश होगा इसमें वेद की क्या सम्मति होनी चाहिए ईश्वर की क्या उसका उत्तर यही है वहां छोड़ना है उसको दूसरे कहेंगे देशद्रोही लेकिन जो ईश्वर भक्त है उसे पता है देशद्रोह नहीं है कि मानवता के हित के लिए वो जा रहा है केवल एक देश को नहीं देखा जाएगा केवल एक घर को एक राज्य को एक नगर को कभी नहीं देखा जाएगा जो उचित है जो मानव मात्र के लिए ठीक है वो वही पक्ष ईश्वर का और वेद का बनेगा और कोई जी किसके हाँ लेकिन आजकल जैसे हमको पता चलता है कि दुकानदार को कैसे करते हैं और हम्म। तो खरीदने जाता है तो उसको क्या करना वो तो हमें तो बोलना पड़ेगा लेकिन जो सच्चा ग्राहक होगा वो कहेगा जी एक ही भाव है मेरा तो वो ज्यादा बात नहीं करेगा भाव का आपको पता तो नहीं हम करेंगे हमें भी ये परीक्षण करना चाहिए कि यदि कोई एक भाव वाला बोल रहा है यदि कोई कह रहा है कि मेरा एक ही भाव है और मैं इसको नहीं बदलूंगा तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए हमें उसी के पास जाना चाहिए और उसका समय भी नहीं बिगाड़ना चाहिए अन्य लोग भाव बढ़ा करके बोलते हैं वहां भाव तोल करना पड़ता है इसलिए हम यहां भी करने लगे उन पर अविश्वास करके ये नहीं होना चाहिए हमें उन पर विश्वास करके ले लेना चाहिए यहां प्रश्न ये हो सकता है कि वो सही हो ये तो हमें पता नहीं है जो आप पूछना चाह रहे हैं हो सकता है वो सही ना हो वो भी पढ़ा करके ले रहा हो लेकिन उसने वचन दिया ये इतना ही है हम उसको ले लेंगे हम ईश्वर के विश्वासी हैं अगर उसने झूठ बोला है और हमारे से छल कपट किया है तो उसको दंड मिलेगा और हमारी जो हानि हुई है हमारी पूर्ति होगी हम जो समर्थन कर रहे हैं जान जानबूझ करके समझ करके भाव भी हमें कुछ पता है मान लो हम कुछ जगह ढूंढ के भी आए हैं और नहीं भी पता है तो भी अगर वो ये कहता है हमें भाव से पता लग जाता है ना हम थोड़े सा संकेत से भी कहते हैं नहीं जी कुछ कम करो वो नहीं जी एक ही भाव है वो इस तरह से बात करेगा कि दूसरा समाप्त कर देगा एक ही भाव है एक ही भाव रखता हूं मैं उस वक्ता की उस विक्रेता की वाणी से ही पता लग जाता है कि ये झूठ बोल रहा है या स्थिरता से कह रहा है ये हमारी कुशलता होनी चाहिए हमें बहुत कुछ पता लग जाता है वहां पर और ऐसे में एक भाव है एक भाव देना चाहिए देके आना चाहिए बड़ी बड़ी दुकानों पे जहां एक ही भाव रहता है हमें पता है कि ये ज्यादा ले रहा है तो भी मोल भाव करते हैं क्या जहां पता है कि ये कम कर देते हैं वहां तो कर लेते हैं लेकिन बहुत सारी जगह पे लिखा रहता है वहां जैसे आजकल बड़ी बड़ी दुकानें होती है निश्चित मूल्य लिखा रहता है वहां कोई संभावना ही नहीं है हमें पता है कि बाहर ये इतने कम में मिल रही है यहां अधिक मिल रही है हमें लेना है तो लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे और कोई नहीं जान होते हुए भी हम कम नहीं करते हमारी इच्छा है ना लें तो ना लें लेकिन यदि वो कह रहा है मैं एक ही भाव ले रहा हूं और ये उचित भाव है तो हमें लेना चाहिए बाकी का उसके ऊपर जाएगा अपनी सावधानी रखते हुए और फिर भी कभी जानकारी नहीं है तो भी उस पक्ष में मैं बोल रहा हूं हमें इनका समर्थन करना चाहिए ऐसे लोगों का नहीं तो क्या होगा उसने तो एक भाव रखा है एक वैदिक बात को वो स्थापित करना चाह रहा है पालन करना चाह रहा है और हम भी आ करके उसको उतना ही परेशान करें ये मान कर कि सब ऐसे ही झूठे होते हैं अधिकांश झूठे होते हैं तो उस पर क्या क्या बार बार आएगा और हम उसको छोड़ के जाएंगे तो भी उस पर दुष्प्रभाव आएगा हम ऐसे धार्मिक व्यक्ति को हतोत्साहित कर रहे होते हैं उस समय उसका भी समय खा करके उसको भी कम करवा करके और वो कम नहीं करता है तो हम जब छोड़ के चले जाते हैं ये सब हम एक धार्मिक को हतोत्साहित कर रहे होते हैं और पाप कमा रहे होते हैं ऐसे का हमें समर्थन करना चाहिए हो सकता है कहीं हम उसमें धोखा भी खा जाएं पर हम एक अच्छे काम के लिए स्थापना के लिए समर्थन कर रहे हैं उसको भी मिलना चाहिए कि हाँ मैंने भाव रखा और देखो उसने स्वीकार कर लिया और लेके गया है जी नहीं और बढ़ा के रखेगा तो ज्यादा नहीं चलेगा अब उसने बहुत अधिक बढ़ा रखा है सामान हल्का है दोनों में से कुछ भी है तो एक बार दो बार ग्राहक को पता लग जाता है वो हमेशा उसी दुकान पे तो नहीं आएगा औरों को पता लगेगा कुछ फंसे रहेंगे औरों को पता लगेगा ये ज्यादा नहीं चल सकता जो उचित होगा उसी का चलेगा कौन ग्राहक है जो अधिक देना चाहता है कौन ग्राहक है जो गलत चीज लेना चाहता है और पता लगने पे कौन उसी दुकान पे जाएगा जिसमें अधिक दिया जाता है या कम तोला जाता है या हल्की चीज दी जाती है जानबूझ के कौन ग्राहक जाएगा मजबूरी की छोड़ दो नहीं तो कोई नहीं जाएगा जैसे हम लोग तो ज्यादा जाते नहीं ना बाजार तो ऐसे कोई सामान खरीदने जाएंगे तो क्या दुकान ढूंढेंगे कहा कैसे दुकान नहीं ढूंढेंगे उतना हम नहीं कर सकते ना हमें पता लगेगा हम गए अब हमारे पास में दोनों स्थितियां हैं कि कुछ लोग निश्चित मूल्य वाले भी होते हैं कुछ अनिश्चित मूल्य वाले भी होते हैं कहीं भावतोल कम भी करवाते हैं बार्गेनिंग भी करते हैं दोनों हो सकते हैं अब हमें ये परीक्षण करना है दोनों होते हैं ये कौन सा है ये भी हमें पता नहीं है संशय है दोनों होते हैं ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है अब हमें वहां थोड़ा सा परीक्षण करना है वहीं पर कि देखो तो ठीक भाव लगाओ इसका कुछ कम करो एक बार हमने कहा कि नहीं जी मेरी तो यहां तो स्थिर यही है बिल्कुल उचित है मैं कम नहीं करता हूं लिखा हुआ भी दिख जाएगा हमारे को वहां बस इतना तब तो कम करवाइए ना आपका प्रश्न पहले ये था कि जिसने फिक्स कर रखा है वहां क्या करें और जो भाव कम कर रहा है पता लग रहा है कि इसने ज्यादा भी ले रहा है और ये कम भी कर सकता है कर रहा है वो भाव से पता लग जाता है हाव भाव से तो वहां हमें कम करवाना चाहिए हमें उसको ठीक रास्ते पे लाना है वहां हम करवा सकते हैं हो सकता है हमें वहां प्रयास करना चाहिए वहां प्रयास करना चाहिए भाव पता रहता है मैं इतना ही दूंगा इससे अधिक नहीं दूंगा ठीक है पता नहीं होता तो ऐसे कैसे कर तो परीक्षण करना पड़ेगा ना परीक्षण तो करना ही पड़ेगा उसके बिना कैसे चलेगा संदेह है हमारे को हमें पता लग जाता है ये हमारी कुशलता है हम कितनी शीघ्रता से पता करें या ना करें और वहां तो हमें भावतोल करना ही होगा जो ये जो कहा ना यहां पर मरुत मितराविणो वहा वो ऐसा जो होता है ना विक्रेता वो बोलता नहीं है ज्यादा हमें रूखा भी लगेगा दूसरा होगा वो बार बार बुलाएगा पकड़ेगा कम कर नहीं नहीं नहीं नहीं आ जाओ कर जाओ ये बहुत बोलता है वो और अपनी उसको भी बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोलता है जो ठीक वाला होता है वो कहता है इसमें ये ये है ये ये है ये वो अधिक बोलता ही नहीं है सीधे सीधे बात बता देता है दूसरा बहुत इधर उधर की बात करेगा वैश्य का लक्षण पता लग जाएगा मित्र आविणा मरुत है वो स्वामी जी पाकिस्तान भारत के साथ लड़ने को तैयार भारत में भी काफी ऐसे लोग जो उनका साथ युद्ध में क्या होगा क्या होगा मतलब किसकी विजय होगी भारत के साथ पाकिस्तान के लोग लड़ने को तैयार हैं और भारत में भी ऐसे अनेक लोग हैं जो उनके साथ लड़ने भारत में रहते पाकिस्तान की तरफ से और ये तैयारियां होगी तो ऐसे युद्ध में किसका उनका लड़ने वालों का या दूसरों का भारत वालों का हाँ, हाँ, हाँ, तो, तो यदि हम फिर भी उनसे बलवान है तो जीतेंगे दुर्बल है तो हारेंगे आपका तो ये अभिप्राय है कि हार ही होगी तो हाँ तो हानि होगी हार होगी यही आपका अभिप्राय है हार होगी यही तो आपका अभिप्राय है क्योंकि वो भी उधर से भी लड़ रहे हैं सामने से भी लड़ रहे हैं और अंदर से भी उनके पक्ष वाले बैठे हैं तो हमारी हार होगी यही तो आप कहना चाह रहे हैं बिल्कुल होगी यदि हम इतने जागरूक नहीं हैं ईश्वर वहां रक्षा नहीं करेगा ऐसे रक्षा नहीं करेगा ये तो हमें सावधान रहना है जब हमें ये ज्ञान हो गया है और हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं उनको निवृत्त नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं उसकी भी रक्षा की जाती है सेना के अंदर भी सैनिक होते हैं अन्य भी तो सब उनके समर्थक नहीं होते कोई कोई होते हैं और कुछ संस्थाएं तो भारत में है रॉ है उसमें कोई सारे हिंदू हैं कोई मुस्लिम है ही नहीं कोई ईसाई है ही नहीं एक भी आज भी जो रॉ नाम की संस्था है भारत की जो विदेशी जासूसी करती है दूसरे देशों से संबंधित उसमें एक भी मुसलमान नहीं है एक भी ईसाई नहीं है सारे हिंदू हैं वो आने ही नहीं देते घुसने ही नहीं देते हैं शत प्रतिशत खूब जोर लगा लिया लोगों ने आने ही नहीं देते हैं आज तक भी ये है आगे हो जाए तो क्या बात है और सेना में भी इतना आसान नहीं होता है जो ऐसे घुस जाए सेना में अपनी भी खुफिया की जाती है आपस में एक दूसरे की जांच और खुफिया लगाए रखते हैं वो उनका तंत्र होता है आपस में ही वहां पर खोजबीन चलती रहती है एक दूसरे की परीक्षा चलती रहती है वो सारा तंत्र बना हुआ है वो लापरवाही होती है वो अलग बात है लेकिन तंत्र बना हुआ है वो और पकड़े जाते हैं आज तक भी सुरक्षित है ना ये अभी तक अभी तक सुरक्षित है ना और वहां वहां भी भारत वालों ने भेज रखे हैं रॉ ने ये आपको नहीं पता है वहां उनके बलूचिस्तान में हो रहे हैं वहां भारत इतना सहयोग करता है उनको धन से भी और अस्त्र शस्त्र से भी और वहां इतने ये भारत में ज्यादा विस्फोट होते हैं पाकिस्तान में ज्यादा होते हैं आतंकवादी वहां वाले यहां जाता है यहां वाले वहां जाता है उनको उस ढंग से वहां पर किया जाता है वो है मुस्लिम ही लेकिन उनको उसी में ही सहयोग करके बढ़ा करके उन्हीं को वापस में करवाया जा रहा है अमेरिका भी करता है भारत भी करता है अब बताओ बम विस्फोट कहाँ है हम ये परेशान है कि आतंकवादी भारत में ज्यादा है वास्तविकता यह है कि बम विस्फोट कहां ज्यादा होते हैं मरते कहां ज्यादा है भारत में या पाकिस्तान में तो इतनी बुद्धि श्रेष्ठों में भी रहती है और वो उसकी रक्षा करते हैं हम चूंकि बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं इसलिए विचारणीय तो है बिंदु गंभीर बहुत है जो आप कह रहे हैं मना नहीं कर रहा हूं उसका लेकिन इतना आसान नहीं है उनको पढ़ना आगे के भविष्य में देख लेंगे देखिए क्या होता है किधर ज्यादा मरते हैं और किधर क्या होते हैं इसको इतना ही रखते हैं तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे परमात्मा के रक्षक भाव को अंदर स्वीकार करेंगे ओ... शान्तिरन्तरिक्षम् शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व सर्वं शांतिरे शान्तिरे शांति सामा शान्तिरेधि ओ शांति शांति शांति सबको साथ नमस्ते